स्वभाव है ठहरना नहीं और चलते ही रहना ऐसा संसार का स्वरूप है यहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है जो ठहरा हुआ मालूम होता है वो भी ठहरा हुआ नहीं जो चलता हुआ मालूम होता है वो तो चलता हुआ है ही जो ठहरा हुआ मालूम होता है वो भी चलता हुआ है पत्थर ठहरे हुए मालूम पड़ते हैं मकानों की दीवारें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं लेकिन अब विज्ञान कहता है वे सब भी चलती हुई है और ये गति बहुआयामी है मल्टी डायमेंशनल है इसे हम थोड़ा समझे तो परम गति का हमें ख्याल आ सके कि वो क्या है दीवार दिखती है ठोस जरा भी चलती हुई नहीं लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं दीवाल का अणु अणु चल रहा है अगर दीवाल के हम परमाणुओं को देखें तो सब परमाणु गतिमान है और प्रत्येक परमाणु के भीतर जो और छोटे खंड हैं इलेक्ट्रॉन्स वे बड़ी तीव्र गति से चक्कर काट रहे हैं हमें दीवाल फिर दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारी आंखें उतनी सूक्ष्म गति को पकड़ने में असमर्थ गति जितनी तीव्र हो जाती है उतनी ही हमारी आंख पकड़ने में मुश्किल हो जाती है जैसे बिजली का पंखा बहुत जोर से चलता है तो आपको पता नहीं चलता है कि उसमें तीन पखरियां हैं चार पखरियां हैं या दो पखरियां हैं अगर पंखा और भी तेजी से चले तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि पंखे में पखरियां हैं ऐसा ही पता चलेगा कि गोल तीन का घेरा ही घूम रहा है वैज्ञानिक कहते हैं कि पंखे की गति इतनी बढ़ाई जा सकती है कि आप उसके पार हाथ ना डाल सके और इतनी भी बढ़ाई जा सकती है कि आप उसके ऊपर बैठे रहें और नीचे जो पंखा चल रहा है वो आपको थिर मालूम पड़े इतनी तेजी से घूम सकता है कि दो पखड़ियों के बीच की जो खाली जगह है जब तक आपको उस खाली जगह का पता चले उसके पहले ही दूसरी पखड़ी आपके नीचे आ जाए तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा पता चलने में समय चाहिए और अगर तीव्रता से घूमती हो गति और हमारी पकड़ने की क्षमता कम पड़ती हो तो गति का पता नहीं चलता पत्थर भी चल रहे हैं उनका अणु घूम रहा है दीवाने भी चल रही हैं उनका अणु घूम रहा है उतनी ही तेज गति से उनका अणु घूम रहा है जितनी तेज गति से आकाश में चांद तारे घूम रहे हैं इस जगत में कुछ भी फिर नहीं है एरिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जीवन भर पदार्थों की खोज करने के बाद एक शब्द मुझे ऐसा मिला है मनुष्य की भाषा में जो कि नितांत ही झूठ है और वो शब्द है रेस्ट हाँ। ठहरा कोई चीज ठहरी हुई नहीं है इसलिए जब भी हम कहते हैं किसी चीज को एट रेस्ट तो हम गलत ही कहते हैं कोई चीज ठहरी हुई नहीं है कोई चीज ठहरी हुई हो नहीं सकती है इस जगत में होने के लिए चलना ही नियम है मैंने कहा आयामी है ये गत आप यहाँ बैठे हुए मालूम पड़ रहे हैं निश्चित ही आप बिल्कुल बैठे हुए हैं चल नहीं रहे लेकिन जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं वो बड़ी तेजी से भागी जा रहा है उस पृथ्वी की दोहरी गति है आप बैठे हुए हैं जिस पृथ्वी पर वो पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है और अपनी कील पर ही नहीं घूम रही कील पर घूमती हुई वो सूर्य का चक्कर भी लगा रही दोहरी गति है उसकी और जिस सूर्य का वो चक्कर लगा रही है वो सूर्य भी अपनी कील पर घूम रहा है इस पृथ्वी को लिए और अपने सब ग्रहों को लेकर वो सूर्य भी किसी महासूर्य की परिभ्रमण कर रहा है ऐसा मल्टी डायमेंशनल गति के भीतर गति और गति के भीतर गति शायद जिस महासूरी का ये सूर्य चक्कर लगा रहा है और अनेक सूर्य चक्कर लगाते होंगे वो सूर्य भी अपनी कील पर घूमकर और किसी मान से मान सूर्य के चक्कर पर निकला हो परिभ्रमण परतों परतों में जीवन का स्वभाव है इस परिभ्रमणशील जीवन में शांति असंभव है इस गति से भरे हुए भागते हुए जगत में कोई विश्राम संभव नहीं है और जब आप विश्राम भी कर रहे होते हैं अपने बिस्तर पर लेटकर तब आपका खून पूरी गति लगा रहा है आपके कण कण शरीर के गति कर रहे हैं आपका हृदय की हृदय धड़कन कर रहा है आपकी श्वास गति कर रही है आपका मन स्वप्नों में परिभ्रमण कर रहा है जब आप बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं तब भी कहीं कोई आपके भीतर विश्राम की जगह नहीं इस जगत में होते हुए विश्राम नहीं है कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और जो वो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और अर्जुन अगर तू उस परम गति को उपलब्ध होना चाहता है जहां विश्राम स्वभाव है इस जगत में तो श्रम ही स्वभाव है अशांति ही परिणाम है इस जगत में रहते हुए इस जगत की कील पर घूमते हुए न कोई विश्राम को उपलब्ध हो सकता न कोई विश्रांति को यदि कोई विश्रांति की खोज में जाना ही चाहे तो उसे अपनी चेतना का कल ही बदलना पड़ेगा परिधि से हटाकर केंद्र पर संसार से हटाकर ब्रह्म पर उसे अपनी चेतना का पूरा रूपांतरण कर देना होगा वो जो अक्षर नाम से कहा है उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं यहाँ दो बातें समझ लेनी चाहिए अक्षर का अर्थ है जो कभी क्षीण नहीं होता छरता नहीं जैसा है वैसा ही है कण भर जिसमें कभी कोई रूपांतरण नहीं होता जो अपने स्वभाव से जरा भी विच्युत नहीं होता अच्युत है ठहरा हुआ है देखा है रास्ते पर चलती हुई बैलगाड़ी को चाक चलता है लेकिन कील ठहरी रहती है और बड़ा मजा तो यह है और इस मजे के राज को जान लेना जीवन के बड़े राज को जान लेना है कि जिस कील पर चाक घूमता है वो कील जरा भी नहीं घूमती है वो खड़ी ही रहती है चाक हजारों मील की यात्रा कर लेता है कील अपनी जगह को छोड़ती है और मजा इसलिए कहता हूं कि अगर ये कील ना हो तो ये चाक जरा भी घूम नहीं सकता इस ठहरी हुई कील के कारण ही इसके आधार पर ही चाक घूमता है संसार का अस्तित्व असंभव है अगर इस संसार के भीतर गहन में इसकी गहराइयों में कहीं कोई अव्यक्त कहीं कोई अक्षर कील मौजूद ना हो ये पूर्वी मनीषा की खोजों में से एक गहनतम खोज है क्योंकि पाया हमने कि जहां भी परिवर्तन है वहां परिवर्तन के आधार में कोई अपरिवर्तित चाहिए और जहां भी गति है वहां गति के मूल में कोई अगति चाहिए और जहां सब चीजें चल रही हों वहां उनके चलने के लिए भी कोई अचल कोई अचल चाहिए इस गत्यात्मक जगत में गति शून्य कोई कील चाहिए उस कील को ही कृष्ण अक्षर कह रहे हैं वो कहते हैं वो जो अक्षर है अव्यक्त है वह भाव ही परम गति लेकिन इस अक्षर तक पहुंचने के लिए हम कौन सी यात्रा करें इस अव्यक्त भाव को जो ज्ञान में छिपा है निगूढ़ है इस तक हम कैसे पहुंचे क्योंकि हमारे पहुंचने का कोई भी उपाय अगर परिधि पर हुआ और चाक के सहारे हुआ तो हम कभी भी इस चीन तक नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा समझें कि एक बड़ा चाक है उस पर आप बैठे हुए हैं और आप चाक पर घूमते रहें हजारों हजारों चक्कर लगाएं तो भी आप केंद्र पर नहीं पहुंचेंगे यद्यपि चाक केंद्र पर ही घूमता है कील पर ही घूमता है फिर भी आप कील पर नहीं पहुंचेंगे चाक पर घूमते हुए आपको चाक छोड़कर कील की तरफ सरकना होगा आपको धीरे धीरे चाक से हट जाना होगा परिधि से हटना होगा केंद्र की तरफ सरकना होगा और जिस दिन आप चाक को बिल्कुल छोड़ देंगे उसी क्षण आप कील को अक्षर को उपलब्ध हो जाएंगे संसार न हम कितनी ही यात्राएं करें उस अक्षर को हम न खोज पाएंगे कोई चाहे तो जाए हिमालय केदार और बद्री कोई चाहे तो जाए कैलाश कोई चाहे तो मक्का और मदीना कोई काशी कोई गिरनार जिसे जहां जाना हो भटकता रहे संसार में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से आप कील पर पहुंच जाएंगे संसार की कोई भी यात्रा तीर्थ यात्रा होने वाली नहीं जहां पहुंचने के लिए पैरों की जरूरत पड़ती हो वो परम धाम नहीं है और जहां पहुंचने के लिए शरीर को साधन बनाना पड़ता हो वो परिधि ही होगी वो केंद्र नहीं होगा जहां जाने के लिए बाहर ही गति करनी पड़ती हो वो अंतरतम नहीं है बाहर चलकर हम बाहर ही पहुंचेंगे संसार में यात्रा करके हम संसार में ही खड़े रहेंगे पैरों से चल के हम वही पहुंच सकते हैं जहां पैर पहुंचा सकते हैं उस परम गति अक्षर को पाने के लिए तो हमें अपने भीतर एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें पैरों की कोई जरूरत नहीं पड़ती एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें हमें बाहर नहीं भीतर की तरफ जाना पड़ता है एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें इंद्रियों का उपयोग नहीं होता इंद्रियों का अनुपयोग होता है एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जहां मन का सहारा लेना नहीं पड़ता मन का सहारा छोड़ना पड़ता है एक ऐसी यात्रा जिसमें हम चाक के घूमते हुए रूप को छोड़कर धीरे धीरे धीरे धीरे कील की तरफ सरकते जाते हैं और एक दिन वहां पहुंच जाते हैं जहां चाक नहीं है कील ही है वो कील प्रत्येक के भीतर है क्योंकि प्रत्येक भी एक छोटा घूमता हुआ चाक है जैसा मैंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल है गति पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही और साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगा रही ठीक हम में से प्रत्येक व्यक्ति संसार के चारों तरफ घूम रहा और हमारे भीतर भी कील पर हमारे शरीर का चाक घूम रहा हमारी कील पर हमारे मन का चाक घूम रहा हमारी कील पर हमारी वासनाओं का चाक घूम रहा हमारी कील पर हमारी तृष्णा हमारी कामना हमारा क्रोध हमारा लोभ उन सब के चार पुर्त दर पुर्त घूमते चले जा रहे हैं चाक के भीतर चाक है वो घूमते चले जा रहे हैं जिस व्यक्ति को अक्षर को पाना है उसे धीरे धीरे एक एक घूमते चाक को छोड़कर भीतर सरकना है सबसे ज्यादा कठिनाई हमारे भीतर सरकने में विचार के चक्र की है क्योंकि विचार इतनी तीव्रता से घूम रहा है और न मालूम अज्ञान के किस गहन क्षण में हमने मान रखा है कि हम विचार ही हैं तो शरीर से अपनी भिन्नता को समझ लेने में तो बहुत कठिनाई नहीं होती लेकिन विचार से अपनी भिन्नता को समझने में बहुत कठिनाई होती इसलिए अगर किसी आदमी का शरीर बीमार हो और हम कहें कि तुम्हारा शरीर बीमार है तो वो नाराज नहीं होता लेकिन किसी आदमी का दिमाग खराब हो और हम कहें कि तुम्हारा दिमाग खराब है तो वो आदमी नाराज हो जाए क्योंकि शरीर से तो एक फासला हमको लगता ही है शरीर बीमार भी हो तो भी मैं स्वस्थ हो सकता हूं लेकिन अगर मन बीमार हो तो मैं ही बीमार हो गया इसलिए बीमार तो मान लेता है कि आप ठीक कह रहे हैं पागल कभी नहीं मानता कि आप ठीक कह रहे हैं अगर पागल से कहो कि पागल हो तो पागल सब तरह के उपाय करेगा कि मैं पागल नहीं हूं बीमार ऐसे उपाय नहीं करता क्योंकि बीमार समझता है कि शरीर बीमार है मैं बीमार नहीं हूं सिर्फ ज्ञानियों से अगर कोई कह दे कि पागल हो तो वे परेशान नहीं होते क्योंकि मन से भी उनकी दूरी स्थापित हो जाती अन्यथा किसी के भी मन को जरा सी चोट शरीर को लगी चोट से ज्यादा गहरी मालूम पड़ती है किसी का पैर काट डाले तो इतनी तकलीफ नहीं होती किसी के एक विचार का खंडन कर दे तो पीड़ा ज्यादा होती आदमी अपने विचार के लिए मरने को कुर्बान होने को तैयार होता फांसी लग जाए उसकी तैयारी है लेकिन मेरा विचार नहीं छोड़ सकता क्यों क्योंकि विचार के साथ हमने बहुत गहरा तादात्म बनाया है असल में हमें ऐसा लगता है कि शरीर बाहर की परत है और विचार मेरे भीतर का केंद्र ये झूठ है विचार भी मेरे भीतर का केंद्र नहीं है विचार भी बाहर की ही एक परत है मेरे भीतर का केंद्र तो अक्षर है विचार तो अक्षर नहीं है विचार तो अभी है और क्षण भर बाद बदल जाता सुबह जो था दोपहर नहीं होता दोपहर जो था वो सांझ नहीं होता इसलिए अगर आप विचार के लिए थोड़ी देर रुक जाएं तो हो सकता है वो काम करने की आपको कभी जरूरत ही ना पड़े बर्नर्ड सा कहता था कि जब मेरी टेबल पर बहुत चिट्ठी पत्रियां इकट्ठी हो जाती हैं पंद्रह पंद्रह दिन बीत जाते हैं और सैकड़ों पत्र इकट्ठे हो जाते हैं और जवाब देना मुश्किल होता है तब मैं थोड़ी सी शराब पी लेता हूं और सब काम निपट जाता है एक मित्र ने उससे पूछा कि क्या शराब पीकर फिर तुम में इतनी ताकत आ जाती है कि तुम सारे पत्रों के उत्तर दे देते हो बरण शाह ने कहा नहीं शराब पीकर मैं उस हालत में हो जाता हूं कि पत्रों की फिक्र ही छूट जाती उत्तर देने की जरूरत ही नहीं रहती और दो चार दिन आठ दिन दस दिन पंद्रह दिन जब इतनी देर हो जाती है तो फिर पत्र अपना जवाब खुद ही दे लेते हैं फिर मुझे उनकी देने की और कोई जरूरत नहीं पंद्रह दिन तक जिस पत्र का जवाब न दिया हो उसका जवाब लिखने वाले को मिल ही गया होता बरड़ शाह को कोई अपना एक नाटक दिखाने ले गया था कोई एक लेखक जिसका नाटक प्रदर्शित हो रहा था बनट शाह पूरे नाटक में सोया रहा लेखक बहुत परेशान था बनट शाह की स्तुति के एक शब्द भी मिल जाए तो वो धन्य हो जाता लेकिन पूरे वक्त बनट शाह सोता रहा दो चार दफे उसने जगाने की भी कोशिश की फिर सोचा कि कहीं जगाने से वो और उल्टा नाराज ना हो जाए जब नाटक पूरा हुआ बनर शाह ने कहा कि बड़ा आनंद हुआ उस लेखक ने कहा लेकिन मैं आशा करके लाया था कि आप दो शब्द मेरे नाटक के संबंध में कहेंगे कोई मत व्यक्त करेंगे आप पूरे समय सोए रहे बनर शाह ने कहा सोया रहना भी एक प्रकार का मत व्यक्त करना है ए सार्ट ऑफ ओपिनियन और जो मैंने कहा कि बड़ा आनंद आया वो इसलिए कहा कि दो तीन रात से मैं बिल्कुल सोया नहीं था तुम्हारे नाटक ने ऐसी गहरी नींद ला दी तृप्त मन बड़ा तृप्त हो गया पंद्रह दिन अगर पत्र का उत्तर न दें तो उत्तर नकारात्मक है ऐसा लिखने वाले को मिल ही जाता बनट सा कहता था पंद्रह दिन तक हिम्मत जुटानी पड़ती न देने की फिर विचार इतना पुराना पड़ जाता है और समय इतना व्यतीत हो जाता है कि कोई प्रेरणा भी नहीं रह जाती है भीतर इसलिए ज्ञानियों ने कहा है अगर बुरा विचार उठे तो थोड़ी देर रुक जाना क्योंकि उतनी देर रुकने में वो विचार ही जा चुका होगा अगर हत्याएं करने वाले लोग दो क्षण भी रुक जाएं तो हत्याएं नहीं हो आत्महत्याएं करने वाले लोग एक क्षण के लिए ठहर जाएं तो आत्महत्या ना हो इसलिए ज्ञानियों ने यह भी कहा है कि जब अच्छा विचार उठे तो तत्काल उसे पूरा कर लेना एक क्षण मत रुकना क्योंकि एक क्षण रुकने पर वो भी बदल जाएगा विचार इतनी तेजी से बदल रहा है फिर भी हम विचार को अपना स्वभाव मान लेते हैं स्वभाव का तो अर्थ ही होता है जो बदले नहीं क्या आपको पता है बचपन के आपके विचारों का क्या हुआ क्या आपको पता है आपके जवानी के विचारों का क्या हुआ कहा खो गए किस रास्ते पर पड़े रह गए आज उनका कोई भी पता नहीं और कल जो बात बहुत महत्वपूर्ण मालूम होती थी क्या आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मालूम होती कल जिसके लिए जान दे सकते थे क्या आज भी उसके लिए जान देना उचित मालूम पड़ेगा सब बदल रहा है विचार भी इतनी तेजी से घूम रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं लेकिन फिर भी हम विचारों से अपने को एक मान लेते हैं क्योंकि हम कभी विचारों के भीतर और प्रवेश नहीं किए जो विचार के भी भीतर प्रवेश करेगा निर्विचार को पाएगा वही उस अक्षर को अपने भीतर अनुभव करता उस कील को जिस पर विचार का चाक घूमता है शरीर का चाक घूमता है वासना का चाक घूमता है और फिर बड़े संसार का चाक और फिर और बृहद ब्रह्मांड का चक्र प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो कील है उस उस कील को पालने से कृष्ण कहते हैं परम गति उपलब्ध होती है अक्षर को अव्यक्त को पालेना परम गति को पालेना है तथा जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वही मेरा परम ध्यान जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे वापस नहीं आते एक ऐसी जगह है चेतना के विकास की जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहें जहां से कोई पीछे वापस नहीं लौटता हम पानी को गर्म करते हैं निन्यानवे डिग्री तक भी पानी गर्म हो जाए तो भी पीछे वापस लौट सकता है लेकिन 100 डिग्री तक गर्म होकर भाप बन जाए तो फिर पीछे वापस नहीं लौट रहा है सौ डिग्री पार कर ले तो भाप बन के आकाश में उड़ जाए अभी बड़े मजे की बात है पानी की गति नीचे की तरफ है भाप की गति ऊपर की तरफ अगर पानी को बहा दें तो गड्ढे की तलाश करेगा अगर भाप को छोड़ दें तो आकाश की खोज करेगी जितने ऊपर जाता और एक बिंदु है सौ डिग्री का सौ डिग्री तापमान पर पानी भाप बन जाता उसके स्वभाव में एक मौलिक परिवर्तन होता है गुणात्मक कि वो नीचे की तरफ जाना छोड़कर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे लेकिन अगर निन्यानबे डिग्री तक गर्म किया हो और फिर पानी को वैसी ही गर्मी पे छोड़ दे तो पानी वापस लौट जाएगा अंठानबे संतानबे नब्बे नीचे गिर जाएगा और पानी पानी ही रहेगा अब ये भी मजे की बात है कि शून्य डिग्री पर ठंडा पानी भी नीचे की तरफ बहेगा निन्यानबे डिग्री पर गर्म पानी भी नीचे की ही तरफ बहेगा लेकिन एक डिग्री और सौ डिग्री और पानी ऊपर की तरफ यात्रा शुरू कर देता पानी पानी ही नहीं रह जाता भाप हो जाता विराट आकाश में खोने के लिए तैयार हो जाता मनुष्य की चेतना की भी ऐसी एक स्थिति है एक सौ डिग्री का बिंदु है उस डिग्री के पहले आदमी कितना ही ऊंची चेतना को ले जाए बार बार गिरता रहे आप भी कई बार स्वर्ग के इतने करीब मालूम पड़ते हैं कि एक कदम और और भीतर प्रवेश कर जाएंगे लेकिन जब तक आप ये सोचते हैं पाते हैं कि आप काफी दूर हो चुके स्वर्ग काफी फासले पर है हम में से सभी लोग कभी कभी निन्यानवे डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं कभी किसी प्रार्थना के क्षण में कभी किसी पूजा के भाव में कभी किसी प्रेम की स्थिति में कभी किसी संगीत को सुनकर कभी किसी सुगंध के सहारे कभी किसी सौंदर्य के निकट कभी नौ निन्यानबे डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस लेकिन फिर वापस गिर जाते आपने शायद अनुभव किया हो कविता पढ़ते हैं किसी कवि की और ऐसा लगता है कि ये आदमी कितना निकट नहीं पहुंच गया होगा सत्य और फिर एक दिन वही आदमी चाय की दुकान में चाय पीता और बीड़ी फूकता मिल जाता और आप एकदम हैरान हो जाते हैं कि यही वो आदमी है जिसने इतनी अद्भुत कविता लिखी क्या यही वो आदमी है जिससे ऐसी पंक्तियों का जन्म हुआ क्या यही वो आदमी है जिसके भाव ने इतनी गहराई और ऊंचाई को स्पर्श किया यह आदमी कैसे हो सकता है नहीं ये आदमी नहीं ये निन्यानबे डिग्री पर किसी क्षण में रहा हो इसने आकाश का खुला रूप देखा तारों में झांक कर देखा आंखें मिलाई इसने बड़ी ऊंचाइयों में लेकिन अब ये वापस अपनी जगह लौटा है कुलरिज ने मरने के बाद पता चला कि कोई चालीस हजार कविताएं अधूरी छोड़ी मित्र तो जानते थे और पूर्णिस से कहते थे कि इन कविताओं को पूरा कर दो इतनी कविताएं अधूरी क्यों कर रखी हैं किसी कविता में सात कड़ी है तो आठवीं कड़ी नहीं है बस एक कड़ी खाली एक कड़ी पूरी हो जाती तो शायद एक महान कविता का जन्म होता लेकिन कुलरिच कहता था सात कड़ी होते होते मैं तो वापस लौट गया वो आठवीं कड़ी आई ही नहीं और मैं वापस जमीन पर लौट आया अब अगर मैं चाहूं तो आठवीं कड़ी जोड़ सकता हूं लेकिन वो कड़ी उस ऊंचाई की ना होगी जिस ऊंचाई की सात कड़ियां और मैं भली भांति जानता हूं कि वही कड़ी इस नाव को इस कविता की नाव को डुबाने वाली सिद्ध हो इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगा किसी दिन फिर उस निन्यानबे डिग्री पर चित्त होगा और अगर कोई कड़ी उतर आई तो जोड़ दूंगा अन्यथा मैं नहीं जोड़ पाऊंगा इसलिए जगत के समस्त महान चित्रकार कवि और संगीतज्ञ निरंतर ऐसा अनुभव करते हैं कि जब उनसे काव्य का चित्र का जन्म होता है तो वे मौजूद नहीं होते कोई और कोई और ही उनके भीतर से बोल जाता है कोई और ही उनके भीतर से गा जाता है कोई और ही उनकी उंगलियों में थिरकता है और उनके सितार को बजा जाता है ये कोई और नहीं है ये उनका ही एक ऊंचा उठा हुआ रूप है जिसकी उन्हें स्वयं भी खबर नहीं लेकिन वापस गिर जाता काव्य और धर्म में यही अंतर है आर्ट और रिलीजन में यही अंतर है काव्य निन्यानबे डिग्री के इस पार गिर जाता है धर्म सिर्फ एक डिग्री और ऊपर छलांग लेता है और सौ डिग्री के पार हो जाता है इसलिए काव्य बहुत बार धर्म के निकट पहुंचता है और धर्म से बहुत बार महाकाव्य का जन्म होता है इसलिए हमने पुराने दिनों में एक और शब्द खोजा हुआ था जिसका अर्थ कवि ही होता है वो शब्द है ऋषि ऋषि का अर्थ कवि ही होता है लेकिन एक भिन्न गुण के साथ ऋषि हम उस कवि को कहते हैं जो उस जगह से गा रहा है जहां से वापस लौटना असंभव है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वो भी गीत को ही जन्म देता है उपनिषद महाकाव्य है गीता स्वयं महाकाव्य है लेकिन कृष्ण उस जगह से इस गीत को जन्म देते हैं इसलिए उसका नाम है भगवत गीता गीत भगवान का गीत भागवत चैतन्य का उस जगह से इस गीत को जन्म मिलता है जहां से लौटना संभव नहीं है फिर भगवत गीता के न मालूम कितनी भाषाओं में रूपांतरण हुए हैं लेकिन अब तक एक भी ऋषि उपलब्ध नहीं हुआ उसके रूपांतरण के लिए कवियों ने रूपांतरण किए फासला ज्यादा नहीं है फासला ज्यादा नहीं है कभी कभी तो कोई कवि बिल्कुल कृष्ण के करीब पहुंच जाता है अगर कृष्ण 100 100 डिग्री के पार से बोल रहे हैं तो कभी कभी कोई कवि ठीक निन्यानवे डिग्री के पार से बोलता है एक डिग्री का फासला कोई बड़ा फासला नहीं है लेकिन उससे बड़ा कोई फासला नहीं है वहां एक डिग्री भी बहुत कीमती है कितना ही बड़ा कवि कितनी ही बड़ी कविता को जन्म दे वो ऋषि नहीं हो पाता क्योंकि वापस वापस गिर जाता है और जब कविता को जन्म देने वाला ही वापस गिर जाता हो तो कविता में डाले गए जो अर्थ हैं वे ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकते वे नीचे की तरफ ही बहने वाले होते हैं चाहे कितनी ही ऊंचाई की डिग्री क्यों ना रही इसलिए बड़े से बड़ा काव्य भी नीचे की तरफ ही बहता हुआ मालूम पड़ता है चाहे कालिदास का हो तो भी नीचे की तरफ ही बहता हुआ मालूम पड़ता है बड़े से बड़ा काव्य भी मनुष्य की काम वासना की तरफ ही बहता हुआ मालूम पड़ता है ऋषि हमने उसे कहा है जो चेतना की उस जगह से गीत को जन्म देता है या किसी भी चीज को जन्म देता है जहां से लौटना संभव नहीं एक क्रिस्टलाइजेशन का एक स्वयं के भीतर संगठित हो जाने का एक क्षण है जिसके पार गिरना नहीं होता इस जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते वही मेरा परम धाम वही मेरा घर बाकी सब रास्ते के पड़ाव जहां आदमी ठहरता है क्षण भर और आगे बढ़ जाता है मंजिल नहीं है परमात्मा की मंजिल और सबके भीतर परमात्मा छिपा है उसी यात्रा पर उसी परमात्मा की मंजिल के लिए वो मंजिल कहाँ है कृष्ण कहते हैं सनातन अव्यक्त जो सदा से अप्रगट है जो सदा से ही छिपा है इटरनली हिडन जिसे कभी कोई खोल नहीं पाया जिसे कभी कोई उघाड़ नहीं पाया जिसके पर्दे कभी कोई गिरा नहीं पाया उस सदा से अनादि से अनंत तक के लिए छिपे हुए को पा लेने वाला वापस नहीं लौटता वही मेरा परमधान इसे जरा समझ ले अगर हम ऐसा कहें कि परमात्मा सदा से ही छिपा हुआ है तो जिन जानने वालों ने परमात्मा की बात कही है उन्होंने जानी कैसे तर्कशास्त्री निरंतर ही ऋषियों के संबंध में मिस्टिक्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण तर्क उठाते रहे हैं तर्क शास्त्री सदा से ही कहते रहे हैं कि मिस्टिक्स जो हैं उनके वक्तव्य नॉनसेंस हैं उनके वक्तव्यों में अर्थ बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक और वे कहते हैं हम उसके संबंध में कहने जा रहे हैं जिसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और हम उसकी तुम्हें खबर देते हैं जिसकी खबर किसी को कभी नहीं मिली और जो सदा से छिपा है हम तुम्हारे सामने उसे प्रकट करते हैं कृष्ण ने थोड़ी देर ही पहले अर्जुन को कहा है कि मैं संक्षिप्त में उसके संबंध में तुझसे कहूंगा और अब वो कहते हैं वो है सनातन अव्यक्त जो सनातन अव्यक्त है सदा से ही छिपा हुआ कभी प्रकट नहीं हुआ कृष्ण उसे प्रकट कैसे करेंगे और कृष्ण उसके संबंध में अगर कुछ भी कह रहे हैं तो वो प्रकट करना हो जाता है ये कहना भी कि वो सनातन से अव्यक्त है व्यक्त करने की बात हो गई इतना कहना भी उसके संबंध में कुछ कहना तर्क निरंतर रहस्यवादियों पर हंसता रहा है और कहता रहा है तुम्हारे वक्तव्य पागलों के वक्तव्य विटगनस्टीन ने अपनी बहुत अद्भुत किताब टेक्टेटस में कहा है कि जिस संबंध में न कहा जा सके उस संबंध में न कहना ही उचित है जिस संबंध में न कहा जा सके उस संबंध में न कहना ही उचित है that which can not be said must not be said न कहा जा सके तो मत ही कहो लेकिन अगर इतना भी कहा जा सकता है कि इस संबंध में मैं कुछ भी ना कह सकूंगा then something has been set तब कुछ कह ही गया तब कुछ कह ही दिया और ये भी कहना ही है प्रकट करना ही है तो रहस्यवादी बड़ी मुश्किल में है कि वो क्या करे या तो वो कहना बंद कर दे अगर वो सच में ही जानते हैं कि वो अव्यक्त है प्रकट नहीं किया जा सकता भाषा बोल नहीं सकती वाणी के पार है तो चुप हो जाएं लेकिन अगर वो चुप हो जाएं तो इतना भी नहीं कह सकते कि वो अव्यक्त है और फिर चुप हो जाना भी तो एक तरह का कहना होगा ए सार्ट ऑफ सेइंग चुप होना भी एक तरह का कहना ही होगा वो भी खबर होगी सूचना ही होगी अगर बनट शाह का सो जाना एक मत है तो परमात्मा के संबंध में चुप हो जाना एक वक्तव्य मौन हो जाना फिर भी वाणी का ही उपयोग है निषेधात्मक रूप से निगेटिव ढंग से फिर ये रहस्यवादी क्या करे चुप हो तो मुश्किल है बोले तो मुश्किल है और साथ में उसे ये कहना ही है कि वो कभी भी उघाड़ा नहीं गया वो सदा से ढका है और सदा ढका ही रहेगा ढका होना ही उसका स्वभाव है अगर वो सदा से ढका है तो कृष्ण उसे कैसे उघाड़ते हैं अगर वो सदा से ढका है तो बुद्ध उसे कैसे जानते हैं ये बड़े मजे की बात है इसे थोड़ा ख्याल में ले लेना चाहिए अगर संसार में किसी ढकी हुई चीज को उघाड़ना हो तो उसी चीज को उघाड़ना पड़ता है अगर एक वैज्ञानिक किसी वस्तु के संबंध में खोज करता है उस वस्तु को तोड़ता है फोड़ता है उसके भीतर प्रवेश करता है उसे उगाड़ता है सब पर्दे निकाल के अलग कर देता है भीतर प्रवेश करता है अगर उसे आदमी के शरीर में पता लगाना है क्या बीमारी है तो एक्सरे से भीतर प्रवेश करता है सब पर्दे तोड़ देता है चीर फाड़ करता है मशीनों को भीतर ले जाता है भीतर के चित्र लाता है भीतर के संबंध में सब जानकारी पकड़ता है सब पर्दे उघाड़ता है और भीतर की खोज करता है ये पदार्थ की खोज का ढंग परमात्मा की भी खोज होती है और वो कभी उघाड़ा नहीं जाता उसकी खोज बड़ी उल्टी है और जिसे परमात्मा को उघाड़ना हो उसे अपने सब पर्दे तोड़ देने पड़ते हैं अपने उसे अपने सब पर्दे तोड़ देने पड़ते हैं अपने भीतर कोई भी छिपावट नहीं रखनी पड़ती अपने भीतर कोई राज नहीं रखना पड़ता अपने भीतर कुछ भी अव्यक्त नहीं रखना पड़ता सब भांति अपने को अभिव्यक्त कर देना पड़ता द्वार दरवाजे खुले छोड़कर जो व्यक्ति अपने को बिल्कुल उघाड़ा कर लेता है जैसे महावीर नग्न खड़े हो गए वो नग्न खड़ा होना सिर्फ प्रतीक है इस बात का कि जिसे भी परमात्मा को जानना हो जिसे भी उस अन्न उघड़े हुए को उघाड़ना हो उसे अपने को बिल्कुल उघाड़ के नग्न वनरेबल सब तरह से खुला हुआ छोड़ देना चाहिए जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह उघाड़ कर सब द्वार दरवाजे खोलकर ओपन खुला हुआ हो जाता है आकाश की भांति परमात्मा जो सनातन अव्यक्त है उसके समक्ष वो तो बचता ही नहीं इतने उगलेपन में प्रकट हो जाता है ये प्रगतिकरण बहुत और तरह का प्रगतिकरण है क्योंकि इसमें परमात्मा को हम उघाड़ते ही नहीं सिर्फ अपने को उघाड़ते इसे हम ऐसा भी समझ लें कि ढके हुए हम मनुष्य हैं उघड़कर हम परमात्मा हो जाते ढके हुए हम मनुष्य हैं उघड़कर हम परमात्मा हो जाते हैं कोई हमारे सामने नहीं आता अचानक हम पाते हैं उघरते ही कि जिसे हम खोजते थे वो तो मैं स्वयं जिस अक्षर की तलाश थी वो तो मेरे भीतर बैठा जिस कील के लिए हमने बैलगाड़ी पर बैठकर इतनी यात्रा की उसी कील पर बैलगाड़ी का चाक चलता था मुल्ला नसुद्दीन भागा जा रहा है अपने गधे पर बैठा हुआ गांव से तेजी से बड़ी तेजी में है वो कोड़े चला रहा है बाजार में लोग उससे पूछते हैं कि नसरुद्दीन कहाँ भागे जा रहा है वो कहता है मेरा गधा खो गया मैं जरा तेजी में हूं मुझे रोको मत कोई आदमी चिल्लाता है कि नसरुद्दीन लेकिन तुम गधे पर सवार हो नसरुद्दीन कहता तुमने अच्छा बता दिया मैं इतनी तेजी में था कि मुझे ख्याल ही ना इतनी तेजी में था खोज की कि मुझे ख्याल ही ना हम जिसे खोज रहे हैं जानने वाले कहते हैं हम उसे कभी ना खोज पाएंगे क्योंकि उस पर ही हम सवार लेकिन तेजी इतनी है कि हम अनंत अनंत यात्रा कर लेंगे और तेजी इतनी है कि हमें स्मरण भी ना आएगा कि जिसके ऊपर सवार होकर हम खोज रहे हैं वही हमारी खोज वही हमारा गंतव्य जिसे हम पाने चले हैं उसे हम पाए ही हुए हैं जिसके लिए हम हाथ फैला रहे हैं वही हमारे हाथों में फैला हुआ है और जिसके लिए हमने तृष्णा के जाल बोए वही हमारी तृष्णाओं का तंतु है और जिसके लिए हम भागे चले जा रहे हैं दौड़ रहे हैं परेशान हो रहे हैं वही है हमारे भीतर जिसे हम परेशान किए गए हैं मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चिंतित है उसका चिकित्सक उससे कहता है इतनी चिंता क्या है चिंता के कारण ही नसरुद्दीन तुम बूढ़े हुए जा रहे हो नसरुद्दीन कहता है ये मैं समझा अब मैं आपको अपनी चिंता बता दू कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं इसी की मैं चिंता में लगा हूं और तुम कहते हो कि चिंता के कारण ही तुम बूढ़े हुए जा रहे हो ऐसा ही विशेष सर्किल है ऐसा ही दुष्चक्र चिंता के कारण आदमी बुरा हुआ जा रहा है बुरा हुए जाने के कारण चिंता कर रहा है अब इसे कहां से तोड़ना किसे खोज रहे हैं आप किसकी तलाश है जो तलाश कर रहा है वही वही उसी की तलाश प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को खोजकर छोड़कर और कुछ भी नहीं खोज रहा है लेकिन स्वयं को कैसे खोज सकिए मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गया है अपने शराब घर में और उसने जाकर पूछा कि मैं पूछने आया हूं क्या शेख रहमान इधर अभी थोड़ी देर पहले आया था शराब घर के मालिक ने कहा कि हाँ घड़ी भर हुई शेख रहमान यहाँ आया था मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि चलो इतना तो पता चला अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं भी उसके साथ था काफी पी गए हैं वो पता लगाने आए हैं कि कहीं शराब तो नहीं पी ली काफी पी गए हैं अब पता लगाने आए हैं कि कहीं शराब तो नहीं पी ली इतना ख्याल है कि शेख रहमान के साथ थे दूसरे का ख्याल बेहोशी में बना रहता अपना भूल जाता शेख रहमान साथ था इतना ख्याल है तो शेख रहमान अगर यहां आया हो तो मैं भी आया होऊंगा और अगर उसने वो पी के गया है तो मैं भी पी गया हूं दूसरे से हम अपना हिसाब लगा रहे हैं हम सब हम सबको अपना तो कोई ख्याल नहीं है दूसरे का हमें ख्याल है इसलिए हम दूसरे की तरफ बड़ी नजर रखते हैं अगर चार आदमी आपको अच्छा आदमी कहने लगे आप अचानक पाते हैं कि आप बड़े अच्छे आदमी हो और चार आदमी आपको बुरा कहने लगे आप अचानक पाते सब मिट्टी में बुरे आदमी आप भी कुछ हैं या ये चार आदमी जो कहते हैं वही वही सब कुछ इसलिए आदमी दूसरों से बहुत भयभीत रहता है कि कहीं कोई निंदा ना कर दे कहीं कोई बुराई ना कर दे कहीं कोई कुछ कह ना दे सब बना बनाया खेल जाए आदमी दूसरों की प्रशंसा करता रहता है ताकि दूसरे उसकी प्रशंसा करते रहें सिर्फ एक वजह से कि दूसरे के मत के अतिरिक्त हमारे पास और कोई संपदा नहीं दूसरे का ही हमें पता है अपना हमें कोई भी पता नहीं मनुष्य जिस दिन भी अपने भीतर प्रवेश करता है उस दिन ही पाता है कि जिसे वो खोजता था वो भीतर ही मौजूद मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक आदमी हाजी हो गया हज की यात्रा करके लौट आया तीर्थ यात्रा करके लौट आया सारा गांव इकट्ठा है सिर्फ नसरुद्दीन को छोड़कर सारा गांव हाजी को देखने गया नसरुद्दीन की पत्नी कहती कि नसरुद्दीन तुम भी अपना ये अधर्म कब छोड़ोगे ऐसे गांव भर में घूमते फिरते हो धूल खाते हो गली गली की और आज हाजी गांव में आया है तुम घर बैठे हो जबकि सारा गांव जा रहा है नसरुद्दीन ने कहा कि इसमें कौन सी प्रशंसा की बात है कि कोई आदमी हज हो आया हाँ अगर किसी दिन किसी आदमी के पास हज आ जाए तो मुझे खबर करना आदमी तीर्थ यात्रा पर चला जाए लौट आए इसमें कौन सी बड़ी बात है बहुत लोग आए और गए किसी दिन तीर्थ किसी आदमी के पास आ जाए मुझे खबर करना मैं हाजिर हो जाऊंगा तो वो ठीक कह रहा है ऐसी घटना भी घटती है जब तीर्थ आदमी के भीतर आ जाता है ऐसी भी घटना घटती है जब भक्त भगवान को खोजने नहीं जाता और भगवान भक्त को खोजता आता है असल में ऐसी ही घटना घटती है भक्त के खोजे भगवान कभी नहीं मिला और कभी मिल नहीं सकता है भक्त को अगर पता ही होता कि भगवान कहाँ है तो वो कभी का भगवान को खोज लिया होता उसे कुछ भी पता नहीं भक्त क्या कर सकता है भक्त कहीं जाता नहीं भक्त सिर्फ अपने को खोलता उघाड़ता और नग्न करता है भक्त सिर्फ अपने को उघाड़ता है और जिस दिन भक्त पूरा उघड़ा होता है नग्न पूर्ण रूप से कोई वस्त्र नहीं उसके चित्त पर उसकी चेतना पर कोई आवरण नहीं निरावरण उसी दिन भगवान उपलब्ध हो जाता है भक्त कभी भी यात्रा करके भगवान तक नहीं पहुंचे हैं जब भी कोई भक्त हो सका है भक्त तब भगवान स्वयं यात्रा करके आ गया है ये जो घटना है ये जो सनातन अव्यक्त को प्राप्त कर लेना है कृष्ण कहते हैं यही मेरा परम धाम ये परम धाम प्रत्येक के भीतर है ये बैकुंठ प्रत्येक के भीतर है ये मोक्ष प्रत्येक के भीतर है और इसे परम धाम इसलिए कहा है कृष्ण ने कि ये पड़ाव नहीं इस पर ठहर कर फिर आगे की यात्रा के लिए तैयारी नहीं करनी इस पर आकर सारी यात्राएं समाप्त हो जाती सुना है मैंने जापान में एक तीर्थ यात्रा के बीच के पड़ाव पर पहाड़ पर एक मंदिर है और हजारों लोग वर्ष में एक दिन वहां की यात्रा करते हैं पैदल वर्षों से एक फकीर बीच पहाड़ के रास्ते पर एक वृक्ष के नीचे पड़ा रहता है हर वर्ष यात्री आते और जाते कभी कोई उस फकीर से पूछ लेता कि तुम इस वृक्ष के नीचे यात्रा पर जाते हुए ठहरे हो या यात्रा से लौटते हुए ठहरे तो वो फकीर हंसता और वो कहता कि न हम किसी यात्रा पर जाते हुए ठहरे हैं और न किसी यात्रा से आते हुए ठहरे स्वभावता लोग रुक जाते और पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है क्योंकि तुम जहां बैठे हो ये तो केवल यात्रा का पड़ाव है मंजिल तो आगे है तो वो फकीर कहता कि निश्चित ही बाहर की यात्रा जिस पर तुम निकले हो उसके लिए ये पड़ाव है लेकिन जहां मैं भीतर बैठा हूं वो वो जगह है जहां से ना आगे जाया जा सकता न जहां से पीछे लौटा जा सकता आया तो मैं भी इसी तीर्थ की यात्रा के लिए था लेकिन इस वृक्ष के नीचे बड़ी तीर्थ यात्रा घटित हो गई फिर आगे नहीं जा सका इस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वो घटित हो गया जिसने मुझे अपने ही भीतर पहुंचा दिया अब मंजिल आ गई अब कदम यहां रखना और कदम वहां रखने का भी कोई अर्थ नहीं रह गया अब मैं वहां हूं जहां सदा था और जहां के लिए सदा से दौड़ता रहा परम धाम का अर्थ है जिसके आगे अब कोई और यात्रा की तैयारी नहीं करनी है और परम धाम का एक अर्थ और ख्याल में ले लें जो और भी जरूरी है परम धाम का यह अर्थ नहीं है कि जहां आप बहुत सी यात्राएं करके पहुंच गए अगर आप बहुत सी यात्रा करके वहां पहुंचे हैं तो वो परम धाम नहीं हो सकता धाम ही हो सकता है परम धाम तो वो है जहां पहुंचकर पता चला कि जहां हम सदा से थे ही ये, ये थोड़ी सी कठिन बात है परम धाम वो है जहां पहुंचकर पता चले कि हद हो गई यहां तो हम सदा से थे ही बुद्ध को जब निर्माण हुआ बुद्ध को जब समाधि फलित हुई तो बुद्ध सात दिन तक तो चुप बैठे रहे कुछ सूझा ही नहीं हिले डुले भी नहीं फिर लोग इकट्ठे होने लगे उनकी कांति उनकी आंखों की रोशनी उनकी सुगंध जल्दी ही फैलने लगी जब कोई फूल खिल जाए मनुष्य की चेतना में तो फिर किसी को बुलाने नहीं जाना पड़ता खबर पहुंचनी शुरू हो जाती लोग आने लगे दूर दूर तक खबर फैल गई कि कोई बुद्धत्व को प्राप्त हो गया लोगों की भीड़ लग गई और लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हमें बताओ कि तुमने क्या पा लिया है गौतम हमें कहो कि तुमने क्या पा लिया है तो बुद्ध ने जो पहला वचन कहा वो बहुत हैरानी का बुद्ध ने कहा अगर तुम पूछते हो कि मैंने क्या पा लिया तो तुम मुझे मुश्किल में डालते हो क्योंकि मैंने वही पा लिया है जो सदा से पाया ही हुआ था लोग पूछने लगे कि पहेलियों में मत कहो हम सीधे साधे लोग हैं हमें ठीक से समझाओ तुम्हारी उपलब्धि क्या है तो बुद्ध ने कहा उपलब्धि के नाम पर कोई भी उपलब्धि नहीं मैंने खोया तो जरूर कुछ पाया कुछ भी नहीं लोग बहुत हैरान हुए उन्होंने कहा कि हमने तो सदा से सुना है कि जब ज्ञान होता है तो कुछ मिलता है आप कैसी बात करते हैं तो बुद्ध ने कहा मैंने अज्ञान तो खोया अब मैं हैरान हूं कि मैंने उस अज्ञान को पा कैसे लिया था उसे मैंने खोया और जो ज्ञान मैंने पाया है अब मैं तुमसे कैसे कहूं कि उसे मैंने पाया है क्योंकि अब मैं जानता हूं वो सदा से मेरे ही पास था तो बुद्ध कहते कि ऐसा समझो कि किसी भिखारी के खीसे में हीरा पड़ा हो और वो भीख मांगता फिर फिर एक दिन अचानक वो खीसे में हाथ डाले हीरा सामने आ जाए तो क्या वो कहेगा कि मैंने हीरा पाया वो हीरा तो बहुत दिन से उसके साथ ही था सदा से उसके साथ ही था सिर्फ उसे पता नहीं था परम धाम वो है जो अभी भी हमारे साथ है और हमें पता नहीं परम मंजिल वो है जिसे हम अपने हृदय के कोने में लिए हुए चल रहे हैं खोज रहे हैं निरंतर जो मौजूद है और हमें पता नहीं बस पता नहीं है इतना ही फर्क पड़ेगा पहुंचकर जानकर पता हो जाएगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बुद्ध ने अपने पिछले जन्म का स्मरण किया है और कहा है कि मेरे पिछले जन्म में सुना मैंने गौतम बुद्ध के जन्म के पहले जन्म में जब वो बुद्ध नहीं हुए थे तो बुद्ध ने कहा है कि मैंने सुना था अपने पिछले जन्म में कि कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो मैं उसके दर्शन करने को गया था जब मैं उसके चरणों में झुका और मैंने सिर उसके पैरों में रखे और जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैं चकित हो गया क्योंकि अचानक उस बुद्ध पुरुष ने अपना सिर मेरे चरणों में रख दिया मैं तो बहुत घबरा गया और मैंने उन्हें उठाकर कहा कि मुझे क्षमा करें मुझसे कुछ भूल हो गई आप मेरे चरणों में सिर रखें ये तो उल्टा मुझ पर पाप हो गया मुझसे पाप हो गया अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही रोक लेता मैं तो अज्ञानी हूं मैंने आपके चरणों में सिर रखा वो ठीक है आपने मेरे चरणों में क्यों सिर रखा तो उस बुद्ध पुरुष ने बुद्ध को कहा उस ज्ञानी ने बुद्ध को कहा कि मुझे पता है मंजिल का वो मुझे मिल भी गई मुझे पता भी है मुझ में और तुझ में ज्यादा फर्क नहीं मंजिल तो उतनी की उतनी तेरे भीतर भी मौजूद है बस तुझे जरा पता नहीं जो हीरा मेरे पास है वही हीरा तेरे पास है मुझे पता है तुझे पता नहीं लेकिन हीरे के होने में जरा फर्क नहीं तो मैं तुझे इसलिए नमस्कार करता हूं ताकि तुझे याद रहे कि तेरे भीतर भी वो हीरा है कि बुद्ध पुरुष तेरे चरणों में सिर रख और आज नहीं कल जब तुझे पता चल जाएगा तब तू मेरी बात समझ लेगा और जब एक जन्म के बाद बुद्ध को ज्ञान हुआ तब उन्होंने जो पहले अपने हाथ जोड़कर किसी के चरणों में झुकाए वो वे ही अज्ञात चरण थे जो अब तो खोजे से मिल नहीं सकते वे अज्ञात चरण वो अज्ञात व्यक्ति जिसने उनके चरणों में सिर रख दिया जानते हुए ज्ञानी ने अज्ञानी के चरण में सिर रख दिया था सिर्फ इस आशा में कि आज नहीं कल इस अज्ञानी को भी पता तो चल ही जाएगा कि उसके भीतर भी ज्ञान का उतना ही सागर है रत्ती भर भी कम नहीं परम धाम का अर्थ है ऐसी मंजिल जो हमें मिली ही है और फिर भी हमें पता नहीं